क्या उन्होंने इस बात में गौर व फिक्र ही नहीं किया बल्कि उनके पास वो आया जो उनके अगले बाप दादों के पास नहीं आया था